पालन करने हारे परमात्मा होतो ओ प्रेमी सज्जनों परमात्मा को हम अपनी अपनी रुचि के अनुसार बहुत से शब्दों से पुकारते रहते हैं संबोधित करते हैं महर्षि दयानंद ने आर्य अभिविनय में परमात्मा को बहुत सारे शब्दों से विशेषणों से नामों से पुकारा है प्रथम प्रकाश के प्रथम मंत्र में एक साथ बहुत सारे संबोधन दिए हैं उन संबोधनों को हम एक एक करके देख रहे हैं इन संबोधनों को समझ करके हम परमात्मा के प्रति अपनी समझ को और विकसित करते हैं और स्पष्ट करते हैं और उसके अनुरूप अपने व्यवहार को भी करते हैं आज का नया संबोधन है अगला संबोधन हे संतति पालक परमात्मा को कहा गया हे परमात्मा आप संतति के पालक हैं परमात्मा पालन करने वाला है रक्षा करने वाला है सबका पालन करता है सबकी रक्षा करता है लेकिन यहां एक विशेषण दिया गया संतति पालक संतति कहते हैं संतान को परमात्मा को कहा गया हे परमात्मा आप संतति पालक हैं अर्थात आप संतान के पालक हैं हम लोक में संतान किन्हें कहते हैं जो हमारे पुत्र पुत्री होते हैं पौत्र पौत्री होते हैं इनको हम अपनी संतान कहते हैं पुत्र पुत्री आदि को तो उस दृष्टि से देखें तो परमात्मा को कहा जा रहा है हे परमात्मा आप संतान के संतति के पालक हैं पालन करने वाले हैं अब एक भक्त और एक आर्य ये परमात्मा को संबोधित कर रहा है अमान्य रूप से हमारे मन में क्या बैठा होता है कि संतान का पालन करने वाला कौन संतति का पालन करने वाला कौन तो हम स्वयं को मानते हैं जो माता पिता हैं बड़े लोग हैं वो ये स्वीकार करते हैं कि हम अपनी संतति के अपनी संतान के पालक हैं हम उसका पालन करते हैं वो पालन करते भी हैं अन्नादि की व्यवस्था करते हैं भोजन व्यवस्था करते हैं अन्य निर्भयता प्रदान करते हैं आश्रय देते हैं ज्ञान देते हैं अनेक प्रकार से हमारा पालन करते हैं हमारी सुरक्षा करते हैं इसलिए माता पिता संतान के पालक हैं उसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन माता पिता यदि ये समझें कि हम ही संतान के पालक हैं हम ही संतति के पालक हैं तो वो एकांगी दृष्टिकोण बन जाता है यहां महर्षि ने संबोधन दिया परमात्मा को हे परमात्मा आप संतति पालक हैं संतान के पालक हैं इससे माता पिता के संतान के पालन का निषेध नहीं हो जाता वो भी पालन करते हैं लेकिन आर्य इस बात को समझता है कि मैं अपनी संतान का जो पालन करता हूं उसके साथ साथ परमात्मा भी संतान का पालन कर रहा है आर्य ये भी समझता है कि मैं जो संतान का पालन कर रहा हूं उसमें भी परमात्मा का बहुत बड़ा सहयोग है परमात्मा अपनी तरफ से तो संतान का पालन कर ही रहा है हमारी संतान का भी और संसार के अन्य लोगों की संतानों का भी सब संतानों का पालन कर रहा है हम केवल अपनी संतान का पालन करते हैं उस दृष्टि से परमात्मा संतति पालक है और हम जो अपनी संतान का पालन कर रहे हैं उसमें भी परमात्मा का सहयोग लेकर के पालन कर रहे हैं परमात्मा के द्वारा प्रदत्त साधनों का उपयोग करते हैं परमात्मा के द्वारा प्रदत्त शरीर बुद्धि का प्रयोग करके परमात्मा द्वारा प्रकृति में उत्पन्न किए गए अन्न फल आदि साधनों का वनस्पतियों का उपयोग करके हम अपनी संतान का पालन करते हैं तो ये संबोधन हम आर्यों के लिए क्यों आवश्यक है आर्य परमात्मा को ये संबोधन क्यों दें कि उन्हें इस बात का बोध रहना चाहिए कि मैं अकेला या हम मात्र संतान का पालन नहीं कर रहे हैं हम माता पिता के अतिरिक्त परमात्मा भी संतान का पालन कर रहा है और वास्तव में वही संतान का पालन कर रहा है संतान शब्द पुत्र पुत्रियों के लिए क्यों कहा जाता है क्योंकि संतान का मतलब होता है विस्तार माता पिता पुत्र पुत्रियों के माध्यम से अपनी वंश परंपरा का विस्तार करते हैं उसका क्रम को बना करके रखते हैं तानते हैं तानना मतलब फैलाना होता है विस्तार करना होता है हम वस्त्र को तान देते हैं फैला देते हैं तो पुत्र और पुत्री अपने वंश को अपने परंपरा को परिवार को फैलाने वाले होते हैं इसलिए उनको संतान कहा जाता है वो अच्छी तरह हमारे को फैलाते हैं अपना ही एक तरह का विस्तार होते हैं इस अर्थ में यदि हम देखें संतान संतति शब्द को तब ये मात्र पुत्रों पुत्रियों तक ही सीमित नहीं रहता है ये और क्षेत्र में भी जाता है जैसे कि विद्या का क्षेत्र शिक्षा का क्षेत्र अध्यापक गुरुजन अपनी विद्या ज्ञान का परंपरा से प्राप्त विद्या का विस्तार करते हैं और जो छात्र होते हैं शिष्य होते हैं वो गुरुओं की संतान होते हैं वो विद्या की संतान होते हैं ज्ञान की संतान होते हैं धर्म की संतान होते हैं वो भी एक विस्तार है और व्यक्ति इसके माध्यम से अपना विस्तार करता है ज्ञान का विस्तार करता है तो परमात्मा संतति पालक है ये बात यहां भी घटेगी गुरुजन अध्यापक आचार्य ये समझें कि हमने विद्या को दिया है और हमने इसको फैलाया है हमने हमारी संतानों की रक्षा की है शिष्यों की रक्षा की है वो एक अंश में ठीक है लेकिन आचार्य गुरुजन अध्यापक यदि ये समझ लें कि हम ही संतान के पालक हैं ये जो विद्या रूपी विद्या की संतान है शिष्य आदि उनको पालन करने वाले उनकी रक्षा करने वाले हम ही हैं तो ये भी आर्यों की दृष्टि से दोष हो गया गुरु आचार्य भी बहुत थोड़ा सा ही पालन करते हैं और वो जितना पालन करते हैं उसमें भी परमात्मा का सहयोग होता है और उसके अतिरिक्त परमात्मा की भी व्यवस्था है जिससे कि ये संतान ये परंपरा चलती है परमात्मा बच्चों में शिष्यों में इस प्रकार की व्यवस्था रखता है अंतकरण में कि वो ज्ञान के प्रति सुरक्षा के प्रति केंद्रित होते हैं आकर्षित होते हैं उसका मान करते हैं उसके अनुरूप चलते हैं परमात्मा उनको अनुरूप चलने में प्रेरणा देता है अंदर उत्साह पैदा करता है ये सब सहयोग मिलता है और बाह्य साधनों का तो उपयोग होता ही है अब इसके अतिरिक्त हम समस्त जगत में भी देख लें इसके अतिरिक्त हम मनुष्यों के अतिरिक्त भी समस्त जगत में देख लें अन्य पशु पक्षियों की संताने संतति चल रही है लगातार उनका पालन कौन कर रहा है वहां भी परमात्मा ही संतति का पालन कर रहा है ये संतति हो सके संतानें उत्पन्न हो सके इस सारी प्रक्रिया को परमात्मा ने बनाया है पेड़ पौधे हैं उनकी संतति चलती रहे जो वृक्ष आज है उससे सैकड़ों हजारों वृक्ष उत्पन्न हो सकते हैं ये संतति का पालन है संतति की रक्षा का उपाय है एक एक पेड़ के ऊपर सैकड़ों हजारों और पूरे जीवन में देखें तो कई बार लाखों बीज भी पैदा हो जाते हैं वो कितने भी नष्ट हो जाएं, पशु पक्षी खा लें अन्य मनुष्य उसका उपयोग कर लें तब भी इतने बीज रहते हैं कि पौधे पे पौधे उग सकते हैं यदि मनुष्य इन सबको एक सीमा से अधिक नष्ट ना करे तो इनमें से किसी की कमी नहीं आती है लगातार इनकी संतति संतान चलता ही रहता है चलता ही रहता है संतान के अंदर संतति के अंदर एक पौधे का गुण उसका स्वरूप अगले पौधों में का तो चला जाता है उसी तरह के पत्ते उसी तरह के फल सुगंध रंग रूप हमें पता लग जाता है कि ये नीम का वृक्ष है ये आम का वृक्ष है ये जो एक रूपता आगे आगे चलती है और इसी तरह से मनुष्य की संतानों और पशु पक्षियों की कीट पतंगों की संतानों में हमें पता लगता है कि ये इस संतति का है ये इस प्रजाति का है ये कैसे चलती है हम कैसे कर पाते हैं इसको तो परमात्मा ने गुण सूत्रों की क्रोमोजोम की जीन्स की ऐसी व्यवस्था की है कि जिससे हमारे रंग रूप स्वभाव आदि बहुत सारी चीजें आगे चलती हैं ये परमात्मा के अलावा और कोई नहीं कर सकता वैज्ञानिकों ने जो कोशिका के अंदर गुणसूत्रों को खोज लिया है जीन्स को खोजा है क्रोमोजोम्स को खो, खोजा है ये अति सूक्ष्म चीजें हैं जो हम आंखों से ढंग से देख नहीं सकते समझ नहीं सकते कि इससे ये सारा चल रहा है और उसके अंदर भी इतनी जटिल प्रक्रिया है कैसे रोगों से सुरक्षा हो कैसे नया नया रूप बनता रहे उसी प्रजाति का होते हुए भी एक नया रंग रूप लेकर के एक नई विशिष्टता लेकर के भी आता है वहां आणविक स्तर पर जो संरचना होती है एक दूसरे से मेल होता है अणु बनते हैं वो बहुत ही जटिल और सुनियोजित व्यवस्था है वैज्ञानिक उस पर बहुत प्रभावित है बहुत आश्चर्यचकित है कितनी सुव्यवस्था है उसके बिना कोई संतति नहीं चल सकती ये अंदर की सूक्ष्म बात है बाहर का स्वरूप तो है ही परमात्मा रक्षा करता है संतति का पालन करता है ये जल वायु आदि तो बहुत स्थूल रूप हमें दिखाई देते हैं लेकिन अंदर सूक्ष्म रूप से परमात्मा ने कितनी सुंदर और दृढ़ व्यवस्था कर रखी है कि संतति चलती जा रही है चलती जा रही है में कुछ सौ साल पहले तक का पता नहीं होता ये संसार कैसे चल रहा है और हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्ष से ये संसार चलता चला जा रहा है हमें तो कुछ भी नहीं पता है हम केवल कुछ अनुमान करते हैं पूर्वजों की बताई हुई बात को लिखी हुई बात को जानते हैं कि ये ऐसे ऐसे चल रहा था लेकिन हम तो कुछ भी नहीं जानते हमारा जीवन किसी का 10 वर्ष 20 वर्ष 50, 60, 70, 80 वर्ष अपनी अपनी आयु में हम चल रहे हैं हमें इतना ही तो पता है इससे पहले कैसे ये संतति चलती चली आ रही है और आगे भी हमारे जाने के बाद में चलती ही रहेगी इस सब संतान का इस सब विस्तार का करने वाला उसकी रक्षा करने वाला कौन है वो परमात्मा है हम अपने दो चार बच्चों को पाल करके कुछ दस बीस सौ हजार शिष्यों को ज्ञान दे करके समझ लेते हैं जैसे कि हम बहुत बड़े पालक हैं और उसी का हमारे को अहंकार आ जाता है हमने अपने बच्चों के लिए बहुत किया हमने अपने शिष्यों के लिए बहुत किया इतना समय लगाया इतनी धन संपत्ति लगाई इतना कष्ट सहा और उसका हमें बड़ा गर्व होता है बहुत घमंड हो जाता है और इस कारण से हम अपना अधिकार भी समझने लगते हैं अपनी संतानों पर अपनी पुत्र पुत्रियों पर अपने शिष्यों पर ये सब जो अधिकार की भावना है एक अंश में ठीक है लेकिन जब हमने बहुत कम पालन किया है हम कैसे उन पर अधिकार जता सकते हैं परमात्मा का अधिकार संतानों पर अधिक है क्योंकि परमात्मा ही संतान का पालन करता है मुख्य वही पालक है इस प्रकार से हम अपने लिए सोचते हैं कि हमने संतानों के लिए इतना कुछ किया है पुत्र पुत्री हो चाहे शिष्य वर्ग हो हमने इतना सब कुछ किया है और हम उस पर अपना अधिकार भी समझते हैं तो परमात्मा ने जितना किया है उसके आधार पर परमात्मा का अधिकार भी तो बनता है और यदि हम निष्पक्ष रूप से देखें तो उतना बड़ा अधिकार परमात्मा का हमें स्वीकार करना होगा स्वीकार करना चाहिए लेकिन सामान्यतया हमारी प्रवृत्तियां ये होती हैं कि हम संपूर्ण अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं माता पिता भी और गुरुजन भी गुरुओं के पास से भी जब शिष्य जाने लगते हैं तो गुरुओं को भी कष्ट हो जाता है जैसे माता पिता के पास से बच्चे जाते हो तो माता पिता को कष्ट हो जाता है ऐसे गुरुओं को भी कष्ट हो जाता है जैसे माता पिता अपने बच्चों को अपने पास ही रोक के रखना चाहते हैं ऐसे शिष्य शिष्य को आचार्य और गुरुजन भी अपने पास ही रोकना चाहते हैं मूल प्रवृत्ति वही है मूल अधिकार की भावना मूल दोष वहीं सब जगह दोनों जगह एक ही समान है यदि हम परमात्मा को संतति पालक मानते हैं जैसा कि हमें करना चाहिए तो ऐसे में माता पिता और आचार्य गुरुजन उन सब का कर्तव्य बनता है कि हम इस पे अपनी संतति पर परमात्मा का अधिकार सबसे बड़ा माने और परमात्मा की दृष्टि से जो उचित है वैसा करने के लिए उसको अवसर प्रदान करें उसको सहयोग दें यदि विद्यार्थी कहीं और जगह पढ़ने जाता है कहीं और अधिक उसका विकास है तो उसको जाने के लिए अनुमति होनी चाहिए उसमें अपनी प्रसन्नता होनी चाहिए परमात्मा की प्राप्ति की दृष्टि से उसको वो ज्ञान जहां भी मिले उसकी योग्यता के अनुसार ज्ञान जहां मिले जिस संस्था में अधिक अच्छा हो वहां जाने का उसको अवसर होना चाहिए जहां जहां अपना अधिकार अधिक हो जाता है तो वहां प्रमुखता अपनी हो जाती है मेरे पास ये विद्यार्थी रहे मेरे गुरुकुल में रहे मेरी संस्था में रहे ये सब भी उतना ही मोहग्रस्त है जितना कि कोई माता पिता समझते हैं कि ये बच्चा मेरे पास ही रहे मेरा ही लाभ करे मेरी ही सेवा करे आचार्य गुरुजन भी सोच लेते हैं कि ये मेरे पास ही रहे मेरी सेवा करे जैसे माता पिता सोचते हैं कि ये बच्चा जाएगा तो घर कैसे संभलेगा ऐसे गुरुजन आचार्य भी सोच लेते हैं ये चला जाएगा तो ये संस्था कैसे चलेगी मेरा आश्रम कैसे चलेगा ये दोनों ही जगह समान रूप से अविद्या काम करती है क्योंकि दोनों ही अपना अधिकार अधिक समझ लेते हैं हमारा अधिकार चाहे माता पिता हो चाहे गुरुजन हो एक अंश में है थोड़ा सा है परम पिता परमात्मा इस सब संतति का पालक है रक्षक है और उसका अधिकार इसमें सर्वाधिक है तो जहां रहते हुए किसी भी संतति का बच्चे का शिष्य का सबसे अधिक भला हो वो तो ईश्वर की तरफ अधिक बढ़ सके उसकी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप उसको अवसर मिल सके वहां जाने की स्वतंत्रता वैदिक धर्म में है वो होनी चाहिए उस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए लेकिन ये तब संभव है जब हम परमात्मा को संतति पालक समझें हम शब्दों में या एक अंश में परमात्मा को संतति पालक मानते हुए भी व्यवहार में परमात्मा का अधिकार उतना बड़ा नहीं मान पाते हम अपना अधिकार मान बैठते हैं कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जो ये कहें कि हम पालक हैं परमात्मा को वो माने ही नहीं उनका भी अज्ञान है उनका बड़ा अज्ञान है लेकिन वो तो मानते ही ऐसा है कि हमने ही सब कुछ किया है परमात्मा को पालक को मानते ही नहीं है अपनी संतति का लेकिन जो इस बात को समझते हैं फिर भी व्यवहार में इसको नहीं ला पाते ये उन उन बड़ों का दोष है जब जब अपना स्वार्थ आ जाता है वहां वहां ये बाधाएं खड़ी होती हैं और फिर व्यक्ति अपने स्वार्थ को समाज कल्याण का नाम भी देता है परोपकार का नाम भी देता है क्योंकि स्वार्थ कह करके तो रोका नहीं जा सकता और कह भी नहीं सकते प्रच्छन्न रूप से स्वार्थ होते हुए भी सामने वाले का कर्तव्य समाज का कार्य संस्था का कार्य ये सब चीजें प्रस्तुत की जाती हैं और माता पिता भी ऐसे प्रस्तुत करते हैं वो बच्चे को कर्तव्य बताते हैं और परिवार वाले रिश्तेदार भी कहते हैं कि माता पिता ने इतना किया है तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है माता पिता के लिए करें वो कर्तव्य अपनी जगह ठीक है परमात्मा का भी उपदेश है माता पिता आचार्य गुरुजन के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करें लेकिन दूसरे पक्ष में माता पिता गुरुजन आचार्य का भी कर्तव्य बनता है दोनों एक दूसरे के कर्तव्य का पालन करें अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और जब जो आगे बढ़ रहा है उसको तो अभी ब्रह्मचर्य काल है उसको यह अवसर प्रदान होना चाहिए कर्तव्य की बात कब आती है जब वो अपना अध्ययन पूरा कर लेता है गृहस्थ में जाता है वहां कर्तव्य की बात आती है नहीं तो अभी माता पिता का कर्तव्य है कि वो बच्चे के लिए अनुकूल स्थिति रखे गुरु आचार्य का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्यों के लिए उचित स्थिति रखे क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था में ब्रह्मचर्य काल शिक्षा का काल ऐसा है जहां उनके प्रति उन बच्चों में अपने गुरुजनों के प्रति वो वैसे कर्तव्य नहीं होते उनका कर्तव्य केवल इतना होता है कि जहां रह रहे हैं वहां उनकी एक अंश में देखभाल करें उनकी आज्ञाओं का पालन करें अनुशासन में रहें यही मुख्य कर्तव्य होता है धन कमा करके सेवा करना दान ला करके सेवा करना दान ला करके आश्रम को बढ़ाना ये शिष्यों का कर्तव्य नहीं है ये पुत्रों का कर्तव्य नहीं है कि वो कमा करके और माता पिता की सेवा करे जब तक वो पढ़ रहा है जब तक उसका विद्यार्थी ब्रह्मचर्य काल है तब तक उसका कर्तव्य नहीं है ये माता पिता का कर्तव्य लेकिन जैसे ही ब्रह्मचर्य काल पूरा हुआ विद्यार्थी काल पूरा हुआ शिक्षा का काल पूरा हुआ अब उनका कर्तव्य बनता है कि यदि वो गृहस्थ में गए हैं तो माता पिता के लिए धन कमाएं उनकी व्यवस्था करें शिष्यों के लिए भी कर्तव्य बनता है कि अब उनका अध्ययन काल पूरा हो गया तो अब वो अपने गुरुजनों के प्रति या जिन संस्थाओं में वो रहे हैं उनके लिए कुछ करें जब वो अपने लिए कुछ करने लगते हैं अपनी संस्था बनाने लगते हैं तब उनका कर्तव्य होता है अपनी पूर्व संस्था का गुरुजनों आचार्यों का भी ध्यान रखें लेकिन उससे पहले जब तक शिक्षा का काल है प्रगति का काल है वहां माता पिता गुरुजन का मुख्य कर्तव्य बनता है कि उनको यथा सामर्थ्य अवसर प्रदान करे उसमें बाधा ना करे लेकिन ये तब होता है जब हम परमात्मा को संतति पालक माने और परमात्मा का अधिकार मुख्य माने कि परमात्मा की ब्रह्मचारियों के प्रति विद्यार्थियों के प्रति क्या व्यवस्था है उनका क्या निर्देश है उसके अनुरूप हमें भी चलना है हमारा अधिकार परमात्मा के अधिकार में बाधक न बने परमात्मा ने जिसलिए ये शरीर दिया है मनुष्य शरीर दिया है और वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य काल में अभी अपनी साधना कर रहा है अपने को आधार प्रदान कर रहा है तो सबका यही कर्तव्य बनता है कि उनको बढ़ाएं उनको अनुकूल वातावरण दें हाँ विद्यार्थियों का अपने प्रति कर्तव्य है कि जब सब मुझे इतना सहयोग दे रहे हैं तो मैं अपनी पूरी शक्ति अपनी उन्नति में ज्ञान प्राप्ति में स्वास्थ्य को अच्छा करने में बनाऊं खूब उन्नत हो खूब अधिक से अधिक उन्नत हो ये उसका मुख्य कर्तव्य बनता है तो महर्षि ने यहां पर परमात्मा को संबोधन दिया हे संतति पालक ये केवल सूचना मात्र नहीं है कि परमात्मा पालन करता है उसके साथ में हमारे लिए कर्तव्य भी जुड़ जाते हैं कि उसके कुछ अर्थ होते हैं परमात्मा संतति पालक है इसका मतलब क्या है जैसे किसी बच्चे को कहें देखो तुम्हारे माता पिता ने कितना आपका पालन किया है इस कहने के का मतलब केवल सूचना देना नहीं होता है कि माता पिता ने बच्चे के लिए बहुत कुछ किया है उसके साथ में ये बात जुड़ी हुई होती है आप अब उनका ध्यान रखो अब आप उनकी सेवा करो आप उनकी आज्ञाओं का पालन करो आप उनका उल्लंघन मत करो ये निर्देश ये संदेश उस वाक्य के साथ में जुड़ा रहता है बड़ों का उपकार जिस समय बताया जाता है तो वो छोटों को उनके कर्तव्य को स्मरण दिलाने के लिए होता है देखो इन्होंने आपके लिए इतना किया है अब आपको भी इनके लिए करना चाहिए ऐसे अवहेलना मत कीजिए इनकी तो परमात्मा को संतति पालक जब हम संबोधित करेंगे महर्षि ने यह संबोधन दिया उसका मतलब मात्र सूचना देना नहीं है उसके साथ साथ है कि हमें उस तरह के कर्तव्यों का पालन करना है कुछ संदेश दिया जा रहा है हमें करने के लिए वो यही मुख्य है कि हम अपने पालन कर्तृत्व को कम रखें हम ये ना समझ लें कि मैं ही पालन कर रहा हूं हम ही पालन कर रहे हैं परमात्मा को मुख्य पालक मानते हुए अपना अंश उसमें ठीक समझें और अपना अधिकार भी हम उतना ही समझें परमात्मा का अधिकार सर्वोपरि समझें इन भावनाओं को रखेंगे तो ये आर्य की भावना होगी ये वैदिक धर्म की भावना होगी और फिर इस संसार में उतनी ही उतनी ही अच्छी प्रगति होगी तो परम पिता परमात्मा को संतति पालक समझते हुए तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे ओ...